के ऊपर डला हुआ जो चीज है उसकी आकृति कैसी है तो क्या चिन्ह किस प्रकार बना हुआ है वो फर्क है उन लोगों का आपस में वो चर्च में घुस नहीं सकता कहता तुरंत बाहर तुम्हारे वहां चर्च में जाओ उधर बोलेगा बहुत है सब लड़ाई हर संप्रदाय हर धर्म कर्म सब नहीं हाल मुंडे मुंडे मोती भी ना इसको कौन मिटा सकता है कौन मिटा सकता कल कहते आत्मा आत्मान आत्मा देव स्वमायया सैव बुद्यते वेदांत निश्चय इति वेदांत निश्चय वेदांत दृढ़ निश्चय है भाई क्या आत्मा आत्मान आत्मरूपो देव स्वमय कल्प यदि आत्मा रूपे स्वप्रकाश देव अपने आप में विवर्त करते हुए अपने ही माया से अपने ही संकल्प के द्वारा सत्व भेदों को कल्पना करता है और स्वयं ही उसका प्रकाशन करके जानता है स एव बुद्ध वही उसको जानने वाला सएव आत्मा रूपी जो देव है वो अपनी ही माया से स्व माया अपनी माया से पहले अपने आप पे बुद्धि नाम जिसकी परिकल्पना कर लिया फिर उस बुद्धि रूपी आत्मना आत्मा अपने ही स्वरूप को ऊपर अधिष्ठान बना करके उसे अधिष्ठान पेन मान करके वेदांतल यदि वेदों की कल्पना किया और स्वयं उसको जान लिया स्वप्न में यही हो रहा हो गया रहा है स्वप्न में आप ही है आप ही अपनी अविद्या से वहां पर एक शरीर बना लिया उसके अंदर बुद्धि मान लिया बुद्धि में अपनी सामर्थ्य से वहां प्रकाश डाल दिया और आप अपने अपने यहाँ सो रहे हैं यानी नहीं और वो एक अलग शरीर बना लिया उसके अंदर एक हो गया आप अलग और उससे आप क्या कर रहे हो अपने आप को अधिष्ठान बना करके उसे अपने एक विशिष्ट रूप भी बना लिया बना करके सकल भेदों की भी रचना की और जान बन रहा है स्वयं उन सबको जान रहा है एक में वित ही एक श्याम प्रजाए वाली बात स्वप्न में हो गया एक अम सद विप्रा बहुधा वदंती वह एक ही है ऐसा तो एक होते हुए उसको विप्रा ब्राह्मण श्रेष्ठ लोग विविध रूपेण कथन किए हैं बहुधा वदंती है ना ये सब वेद मंत्र है तो एक वही वही अपनी माया से लेकिन प्रश्न अगर अपनी माया, वो माया कहाँ से आई ये तो लोग कहेंगे और क्या न कहीं से आई है न कहीं चली जाएगी वो जिसको यह जगत दिखाई दे रहा है जो यह प्रश्न पूछ रहा है कौन देख रहा है कौन अनुभव कर रहा है कौन इन कल्पनाओं को उत्पन्न किया ऐसा जो पूछने वहा कि उसके अपने अज्ञान दृष्टिया कहा जाता है कि उस आत्मा में माया है इसलिए माया को भी हम लोगों ने अनादि कह दिया छह चीजें वेदांत में इसलिए अनादि मानी गई है ना या नहीं कौन कौन हम्म। जीव ईश्वर विशुद्ध चित्त है ना जीव ईश्वर विशुद्ध शित्व विशुद्ध ब्रह्म विद्या तदकारी और अविद्या और अविद्या का ये सारा कार्य है इन सबका संबंध में जोड़ जा दिया सारा कार्य जिसको द्वैत दर्शन कारण पंच भेद मनाना जीव ब्रह्म भेद जीव ईश्वर भेद ब्रह्म ईश्वर भेद जीव जीव भेद जीव जगत भेद पंच भेदों के पूरा द्वैत दर्शन सिद्ध करते हैं और हम लोग क्या कहते हैं ये सारी चीजें जो है ना अनादि माननी होगी इन छह चीज है उन छो के बीच में परस्पर पांच भेद है ये नहीं वो पांच भेजो का छह के आधार पर और छो का छह अनादिकल भेद तो किसके लिए जिसके लिए जगत दिख रहा है उसके लिए बात कहा जा रहा है जिसने प्रश्न डाला है वह कौन अनुभव कर रहा है और कौन विकल्पों को भाष्यकार कहते हैं स्वयं जो ये आत्मा ब्रह्म है अपनी ही माया से स्वमात्म अपने आप को ही मैंने अपने अंतकरण को ही विकृत कर दिया विवर्त कर डाला देव आत्मा आत्मा कौन है देव प्रकाश स्वरूप है स्वयं ज्योति है आत्मनियमाणम भेदागारम गलवेदी आत्मा में ही आगे कहे जाने वाले भेद के आकारों को कल्पना करता है प्रज्वाद विवत्सर बारी रजवादियों में विद्यमान जो सर्पादियों के समान रज्जु में अविद्या कहा से आई कही जाती है क्या वो हमेशा रहती जो को आवरण करके विद्या सुधार आ रही है और वही अविद्या का तमगुण ने क्या किया वहा उत्पन्न कर रहा है किसको रजो में सर्व को रजोगुण का विक्षेप हुआ उसने उसको जो है व्यवहार दिखाया सत्व प्रकाशन कर देता है जो तमोगुण अंश अविद्या का वही जैसे यहाँ तमोगुण से क्या होता है स्थूल सृष्टि रजोगुण से इंद्रिय व्यवहार और प्रकाशन जो है यहाँ अंतकरण से हो जाता है शत्रुगुण से उसी प्रकार वहां भी यह भेद है जो रज्जु का आवरणीय भूत अविद्या को पूर्ण रूपेण आपकी जो वृत्ति को मिटा नहीं पाई जब तब अविद्या से टकरा जाने से वृत्ति का अविद्या क्षुब्ध हो जाती है अविद्या में विकार पैदा होता है तो रज जो छिन्न जो विद्या है वह विद्या का तमोंश रजोंश सप्तंश तीन अलग अलग काम करने लग जाते हैं तमोंश उत्पन्न हो जाता है और उसको आवरण को रजोवंश के द्वारा उसकी भंग होता है और सत्वंश जो उसको प्रकाशन करके सर्व बुद्धि आपके अंदर बना और ये सारे का खेल क्षण भर में हो जाता है पता ही नहीं चल क्रम से लगकर धीरे धीरे हो रहा है क्या इसे दृष्टि सृष्टि आपकी दृष्टि पड़ी जब से सृष्टि होगी एक तो सृष्टि पहले से ही है उसे दृष्टि पड़ना उसे सृष्टि दृष्टिवाद है और दृष्टि सृष्टिवाद प्रमुख है लेकिन वेदांत में मंडित कार्यकारी क्या है अजातवादी लोगों ने से ये दृष्टि सृष्टि मानेंगे है ही जगत लेकिन आप अपनी अविद्या से दृष्टि बहिर्मुख कर दिए तो वहां सृष्टि दिखाई देगा सृष्टि कैसे दिखाई देगी आपके परिभाषाओं के अनुरूप दिखाई देगी नहीं तो सामने रहते भी आपके लिए नहीं है आप बाहर अनुभव कर रहे चीज को लेकिन आपने उसको ग्रहण ही नहीं किया तो आपके लिए है ये क्या प्रमाण आप स्वीकार करते हैं ना मेरे लिए ये चीज है मैंने सुना मैंने जाना मैं समझा मैं पढ़ा मैं लिखा ये सब क्या हो रहा है अंदर से आपकी स्वीकृतियों के कारण से बाहर विद्यमानता आपको स्वीकार हो रहा है वास्तव तो में बाहर में भी नहीं है कुछ भी स्व अज्ञान स्व माया से ही सब कुछ है तो वही दृष्टि वार की व्याख्या कर रहे हैं आप आत्मारोपी देव ने अपनी ही बुद्धि में उस अपनी माया के द्वारा बुद्धि बनाकर उस बुद्धि से अपने आप को विवर्त करके अनंत भेदों की कल्पना कर दिया और स्वयं उन समस्त भेदों का अनुभव भी कर रहा है स्वयं स्व माया स्व आत्मा आत्मा और आत्मनिदेव आत्मनिव क्षमान फलभयती प्रतिवादय सर्वादी स्वयं जत्तान बुद्ध दे और उन समस्त कल्पनाओं का जान कौन रहा है कोई और नहीं आता है जानने वाला स्वयं ही जान रहा है उनको तद्देव वेदांत निश्चय तदेव वेदांत निश्चय नान्य ज्ञान स्मृति आश्रय ज्ञान और स्मृति आदि का आश्रय होता कोई वस्तु अन्य कोई नहीं नान्यो अस्थि स एव कार स एव थे कारिका में उस एव की व्याख्या ही है नान्योस्ती जगत का सृष्टा वही प्रमाता है जो जगत का सृष्टा है जगत को धारण करने वाला है वही वास्तविक जगत को देख भी रहा है अनुभव करता है इसलिए अन्य कोई ज्ञान का आश्रय या स्मृति का आश्रय तो जगत सृष्टा से भिन्न कोई जीवात्मा नाम का चीज ही नहीं है नहीं है लोग मानते ना परमात्मा अलग है जो सृष्टियों का निर्माण कर रहा है उससे भी जीव अलग है सृष्टि को जान रहा है तो कहते जीव परमात्मा भेद भी वास्तव में नहीं है जिस परमात्मा ने अनुभव किया वही परमात्मा में बनाया वन शरीरों में घुस गया तो सृष्टा जीवन प्राविशत और वही परमात्मा शरीरों में रहकर जगत को जान भी रहा है इसलिए वही सब कुछ किया वही सब जानने वाला है उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है चेतन का भेद माने हुए प्रमाण नहीं है तो ये क्षण विज्ञान के अनुसार जाओ तो भिन्न भिन्न अनेक चेतन मानोगे तो इसलिए प्रमाण नहीं बन पाएगा विज्ञान स्मृति के दृष्टान से तो नहीं हो पाएगा न च निराशपद ज्ञान स्मृति वैनाशिका नाम इवा इति अभिप्राय मुख्य पक्षी है बौद्धों का खंडन करना क्योंकि वैनाशिक लोगों के हिसाब से चलोगे निरधिष्ठान हो जाएगा जो ज्ञान को अनुभव किया था वह चैतन्य क्षणिक होने के नाते वह नष्ट हो गया और भावी जो स्मृति को अनुभव कर स्मृति का अनुभव कर रहा है जो वह क्षणिक विज्ञान दूसरा यदि हो जाता है जिसने अनुभव किया वह स्मृति काल में नहीं रहा स्मृति जो कौन करेगा और स्मृति हमेशा पूर्वानुभूत का ही होता है यदि एक व्यक्ति दोनों के अधिष्ठान रूप नहीं मानोगे तो उस अनुभव का स्मरण नहीं कर सकता है निरास्पद ज्ञान स्मृति निराश्रित होकर की ज्ञान और स्मृति दोनों के दोनों हो नहीं सकते न भवितमरती कथम वैनाशिका नाम बौद्धों के समान हम यहाँ कह नहीं सकते निराश्रित होकर ज्ञान और स्मृति दोनों ही हो रहे हैं ज्ञान का जो आश्रित तो वो अलग खत्म हो गया वो मर गया फिर बाद स्मृति का असर दूसरा पैदा हुआ और वो उसको स्मृति कर रहा है जो स्मृति कर रहा है वो पहले नहीं था जो ज्ञान के उपाध में नहीं रहा फिर इसलिए दोनों भिन्न भिन्न होने के नाते दोनों का आश्रय अलग अलग हो गया ज्ञान का आश्रय अलग स्मृति का आश्रय अलग ऐसे मानते हैं तो ज्ञान स्मृति परस्पर संबद्ध अभाव आदेव स्मृति का संभव कृत प्राश अकृत अप्यागम रूपी दोष आ जाता है इस निरास्पद ज्ञान स्मृति को हम वेदांति लोग वैनाशिकों के समान कदापि नहीं मान सकते संकल्पयन के न प्रकार कल्पयते इत्युचित है संकल्प करते हुए वह तो किस किस प्रकार से क्या क्रम है उसका कोई है या नहीं क्रम कल्पना का से पूछा तो जवाब में कहते हैं ये करो त्यपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थित नियताश्च बहिश्चित्त एवं कल्पयते प्रभु कहते हैं विविध रूपेण करोती थी विकरोत नाना भाव करो किनको अपरान भावा जो लौकिक भाव पदार्थ शब्द आदि उनको और अन्यों को भी कहा कर लेता है पहले चित्त में ही व्यवस्थित कर वासना रूप से विद्यमान को चित्त पर सम्यक प्रकार से व्यवस्थित कर जैसे जो है आपके अपने चित्त में भोजन के जितनी भी सामग्रियां हैं करीब सबके नाम वाम सब कुछ आपके दिमाग में है वासना के रूप में विद्यमान है चना दाल हरहर दाल मूंग दाल सब मालूम है ना आपको कि नहीं मालूम समंदर है चले बाहर आ जाए चला जाए तो पहचान भी लेते हैं सब वासना रूपेण विद्यमान है लेकिन मिले नहीं आपस में कुछ अब आपको कहा दिया जाए कि आज जो है दाल भात बनाना है फिर आपको कह देंगे भाई दाल भी अरहर बनाओ फिर आप उसी सब दिमाग व्यवस्थित कर लेंगे तुरंत अंदर अरहर दाल क्या चीज है आ जाएगा बाहर को से दिमाग में तो चना दाल मूंग दाल सब अव्याकृत बना रहेगा अव्यक्त बना रह जाएगा अधिभागा और हरभाग एक केवल दिखाई देने लगेगा और चावल दिखाई देने लगेगा उसमें तो पहले चावल नहीं चढ़ाओगे उसमें भाई दाल पकाने में ज्यादा टाइम लगता है नहीं चावल तो बाद चढ़ा लेंगे एक ही चूल्हा होता आदमी तो पहले साल भर तैयार कर लेगा वो क्रम व्यवस्थित कर लेगा ना हिसाब किताब तो। कितने चूल्हे हैं क्या है कैसा है उसी हिसाब से सब व्यवस्थित कर लेता है फिर अपना झटपट काम चल हो जाता है बाहर तो पहले वासना रूपेण अपने अंदर विद्यमान है फिर उसी को हम पहले भीतर व्यवस्थित कर लेते हैं उसके बाद उसको बाहर प्रकट करते हैं यही आज तक भी चले आया है अनाधिकाल से यही परंपरा रही है वही परंपरा को बता रहे हैं व्यवस्थित हाँ, और व्याकृत रूप से नियतांश और क्रम भी नियत है ये नहीं कि हम कभी पृथ्वी पहले पैदा कर रहे हैं बाद में चल कभी जल पहले और बाद में पृथ्वी ऐसा नहीं होता वो तो क्रम भी नियत है आकाश वायु अग्नि जल फिर पंचीकरण पंचीकरण के बाद जो है पांच भौतिक पदार्थ उनमें भी अनेक योनिया अंत मनुष्य योनि वो जो क्रम बताया गया है श्रुति समझ अन्यत्र वो नियत क्रम से ही कल्पना करता है और करने के बाद चकार के अनियतांश स्वप्राज में क्या होता है अनियत जैसा रज्जु में शब्द होता नहीं है और आपने बना लिया वो नियत थोड़ी है और रज्जु में सर्प ही होगा भी नहीं तो नहीं कभी भूचित्र भी हो सकता है कभी दंड का भी भ्रांति हो सकती है इसलिए कुछ ऐसी भी चीजें हैं जहाँ हम अनियत क्रम से भी व्यवहार कर लेते हैं जैसे होता है ना एक तो है आपके पास रिजर्वेशन पक्का है तो आप चले व्यवस्थित होके जा रहे हैं आप है या नहीं और कई बार ऐसे भी हो जाए रिजर्वेशन नहीं मिला कुछ नहीं मिला जाना जरूरी है कहेंगे अरे जैसे तैसे चले चलो देखा जाएगा तो वहीं जाकर देख लेंगे क्या होता है नहीं वहां क्या है अव्यवस्थित है ना वहां जाके देखेंगे कई दो नंबरी एक नंबरी जैसे भी काम चला सकते हैं तो नहीं तो अंत में जनरल कंपार्टमेंट धक्का होगा खा के बैठ ही जाएंगे मैंने अव्यवस्थित तौर से तो गए ना लेकिन किसी तरह से पहुंच जाएंगे छोड़ेंगे नहीं चाहे दो ट्रेन बदलना पड़े तीन ट्रेन बदलना पड़े जरूर जाएंगे ये जाना तय होंगे फिर अव्यवस्थित तौर पे अनियत क्रम है वहां पर कहा से कहा तक कहीं बस में भी जाना पड़ जाए फिर बाद में ट्रेन पकड़ना पड़ जाए जो भी करना पड़ेगा वो अनियत क्रम से भी वहाँ कार्य संपादन हो जाता है इसलिए लोक व्यवहार में देखने को मिलता है कुछ तो नियत है उनको तो आप बदल ही नहीं सकते और कुछ अनियत क्रम से भी आप कर लेते हैं तो ये सब अपने अपने वासना के अनुरूप होता है परिस्थितियों के अनुसार होता है नियत प्रतिव्यारी अनियत बाकी लौकिक व्यवहारों में अनियत इसलिए है वो केवल कल्पना काल पर रहते हैं कल्पना काल के बाद कुछ नहीं रहते यावत कल्पना है और टिके हुए उसके आगे पीछे नहीं रहते स्वप्न का जितना पदार्थ है यावत कल्पना काल तो है और जागृत का आगे पीछे भी रहता है सृष्टि दृष्टिवाद दृष्टि सृष्टिवाद नहीं कह अब पूर्व पक्षी आप दृष्टि सृष्टिवाद में नहीं जगह हट करके सृष्टि दृष्टिवाद को लेकर पूर्व पक्ष करने वाला है उसी के अनुसार आप बोले जा रहे सर पहले से ही चित्ता एवं कल्पयते प्रभु चित्तासन सन बहिश्चित वाला होकर के वह समर्थ जो आत्मा है प्रभु है वो अपने आप आत्मा क्या है खुद ईश्वर है प्रभु है वह समस्त मनोरथ पदार्थों को कल्पना कर देता है बाहर भाष्यकार का संकल्पयन के प्रकार कल्पयती है संकल्प करते हुए वह किस प्रकार कल्पना करता है ये आप हमें बताइए विकरोती नाना करो दीदी विकरोती बोले नाना करो दी विविध न करो दीदी नाना दी किम नाना दी परान लौकिकान भावान पदार्थान शब्दादी परान से कौन लेना है अपरान अपरान और अपरान दोनों को लेना है ना पहले तो अपरान अपर कौन से है वो कार्यभूता जितने भी पदार्थ शब्द आदि उनको अन्याश्च इसने कह दिया अपराध अन्यांश अंत चित्ते वासना रूपेण कहा कर दिया पहले उसने भीतर में चित्त के भीतर में कैसे था वो वासना रूप से था उन्हीं को लेकर के व्यवस्थिता अव्याकृता अव्याकृत भाव से व्यवस्थित है भीतर नियतान मैंने कौन है अनियतांश चकार से अनियत भी ले लेंगे ना पृथ्वी आदि अनियतांश नियत कौन है पृथ्वी आदि अनियत का नाम नहीं रहे पचास सौ चीजें हैं अपने लौकिक व्यवहार का अनियत तो बहुत है आरंभिक सृष्टि नियत होती है अब बाहर की सृष्टियों में कोई नियम है तो नियमितता नहीं है है अनियतता ही रहता है कहने के लिए सामने से कह दिया जाए नौ महीना गर्भ में वास होता है अब ये थोड़ी है कि नौ महीने होते एग्जैक्ट अगला सेकंड में खट से पैदा हो जाएगा नौ महीने कभी चार दिन बाद कभी दस दिन बाद कभी तीन दिन बाद कभी नौ महीने से पहले ही आठ महीने बीस दिन बाद पच्चीस दिन बाद तभी हो जाते हैं ऐसे भी है पैदा हो जो सातवें महीने में तो बताओ कहा है वो इसलिए एक सामान्य नियम भले हम लोग कह रहे थे नियत है करके नौ महीने के पहले होगा नहीं ऐसे सोचते हैं यार लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि चार बार उसका है इसलिए सब लौकिक व्यवहार जो उत्तरवर्ती भी लौकिक व्यवहार है सब अनियत ही है केवल आरंभिक सृष्टि वो नियत रूप से हुआ कल्पना कारान का तीसरा अनियत कौन है कल्पना कालान कल्पना काल पर्यंत ही रहने वाले होता लेकिन वही चित्ता चित्त के बाहर ऐसा होते हुए तान अंत चित्त तथा अंत चित्त मैंने बहिचित भी है और अंत चित्त भी है लक्षण अंत चित कौन है आदि रूपा इन सब को कल्पयती कौन कल्पना करता है प्रभो मन ईश्वर आत्मा जो आत्मा है जो ईश्वर है वह स्वयं पहले परापर भाव से अंदर में वासना रूपेण जो विद्यमान वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेता है और फिर बाहर उनको नियत रूप से और अनियत रूप से बना लेता है बनाने के बाद बाहर आने के बाद भी फिर अंदर मनोरथ मनोराचार्य मनोरथों को फिर बना लेता है यही क्रम उसका चल क्या है जागृत में आने के बाद होगा ना फिर स्वप्न के गेट फिर अंत कल्पना होगी फिर जागृत में तो फिर बाह्य हो गया यही चक्र चलते इसलिए चित्त सृष्टि की उत्पत्ति काल में तो बिल्कुल ही भीतर था बाहर था ही नहीं भीतर में और व्याकृत रूप से था व्यवस्थित भी था और नियत भी था उसको वैसे के वैसे उसने बाहर कर लिया बाहर करने के बाद सगल व्यवहार अनियत रूप से बनाने लगा अनियत रूप से बनाते वक्त उसे दो भाग कर लिया एक अंत कल्पना काल पर्यंत अवस्थाई मनोराज्य मनोरथादियों को स्वप्नादियों के समान और दूसरे जो जागृतकालीन जो हमेशा अनुभव में आने वाले वस्तुओं को बना लेता है यही क्रम उसका चलते रहता है अनुभव का तो कहते हैं फिर तो एक बात तो साबित हो गया पूर्व पक्ष पकड़ लेगा तो दो प्रकार का पदार्थ है एक कल्पना काल मात्र अवस्थाई और एक कल्पना काल से भी अतिरिक्त काल में रहने वाला भैया नहीं कल्पना काल मतलब किंचित काल अवस्था ही और एक नील काल अवस्था ही दो प्रकार के पदार्थ हो गए फिर कैसे स्वप्न और जागृत बराबर आपने कर दिया स्वप्न दो तो किंचित अवस्था ही है और जागृत यावत अवस्था ही है इसलिए स्वप्रवत जगत जो है जगत मिथ्या है स्वप्रवत ये आपका कार्य चीज नहीं पूर्व पक्षी फिर अनुमान खंडन करने के लिए आरम्भ करता है चित्त काला ही अंतस्त द्वय कालाश्च कल्पिता एवते सरल विशेष नान्य हेतु चित्त काला ही अंत जो भीतर है स्वप्नादि में होते हैं मनोराज्य आदि में जो होते हैं वो केवल यावत पर्यंत चित्त कल्पना कर रहे तावत पर्यंत दिखाई देते रहते तो चित्त काल आए वही थे जैसे जब तक कंप्यूटर चल रहा है या टीवी चल रहा है तब तक तो चीज दिखती है उसके बाद कहा दिखेगा बंद कर दो दिखाई देगा कुछ नहीं दिखता तो। है ना जब तक टीवी आप ऑन कर रखे हैं तभी तक तो चित्र दिखाई देंगे ऑफ करने के बाद भी दिखाई देगा क्या नहीं दिखाई देगा उसी प्रकार यावत काल पर्यंत चित्त कल्पना करते रहता है स्वप्न में तावत काल स्वप्न दिखाई देता है उसके बाद तो है नहीं लेकिन दही ये बही द्वय कालाष्ट जो बाहर है वो दो काल वाले हैं कल्पना काल में भी है और कल्पना काल में विद्यमान जैसे आपने घट की कल्पना कर लिया आपके लिए घट तो था आप सो गए लेकिन उसी घट को दूसरा ने उपयोग कर लिया इसे लगता है कि दो काल है आपने कल्पना काल से बहिर्भूत काल में भी हो रहा है जैसे तो चोरी का प्रसंग नहीं बनता ना फिर मैंने कोई चीज बना लिया और मैं सो गया और मेरे साथ तो भी सब सो गए सब गायब हो जाए अपने अंदर लय हो जाए फिर बाहर रह गए तो कौन चोरी करेगा किस चीज का चोरी करेगा वो द्वैकल है तब ना चोरी हो रहा है आपने बनाया और मेरा करके ग्रहण करके व्यवहार कर रहे हो फिर सो जाते हो यदि आपके बनाया हुआ आपकी कल्पना अनुसार आपके अनंता ममता से जुड़ा हुआ इन वस्तुओं को आपके कार के साथ साथ आप जैसे सोएंगे सब वो आप में लीन हो जाए फिर बाहर आएंगे नहीं जब बाहर रहेंगे नहीं कौन चोरी करेगा लेकिन चोरी होते हैं इसे लगता कि भाई बाहर है वस्तु तो इसका हम भले सो गए लेकिन चीज तो है इसे दृष्टि सृष्टिवाद तो जमने नहीं इस बात को आधार पर तो सृष्टि दृष्टिवाद मान्य पड़ेगी सृष्टि विद्यमान है और दो प्रकार का है इसलिए सृष्टि एक तो मेरे कल्पना संबद्ध होकर कल्पना काल वाला है और एक जो कल्पना काल से बहुत है द्वैत काल वाला है वो ये पूर्व पक्षी रहा है तब कहते हैं सिद्धांति अरे भाई वो द्वैत काल वाले वस्तु की कल्पना तुम्हें ही ऐसे कर लिया था करके तुमने कल्पना कर लिया और चोरी हो गई ये भी तुम्हारी कल्पना है कल्पिता है वही सर्वे द्वय कारत्व कल्पना एक में किया किसी ने एक कारत्व कल्पना वो तुम्हारी अपनी कल्पना है अपना नहीं है वास्तविक कोई तत्व तो ही नहीं है आत्मा को छोड़कर कोई द्वेकार वस्तु नाम का चीज हो ही नहीं सकता ये तो आपकी अपनी कल्पना ही तो विशेष कहा जाएगा और विशेष भी वो अन्य किसी साधन से नहीं हो भी आपकी कल्पना से विशेष हो न अन्य हेतु जो विशेष है नियतत्व बार मेरे को वही जगह मिल रहा है वही चीज देख रहा हूँ वही पुस्तक उठा के ला रहा हूँ वही पढ़ रहा हूँ वही कर रहा हूँ ये जो आपकी अपनी ये भी एक कल्पना ही है द्वय भी आपने कल्पना ही किया है जो विशेषता आप स्वीकार कर रहे हो स्वाप्र पदार्थों से भिन्न जागृत पदार्थों में स्वीकृत जो विशेषताएं हैं वह विशेषता भी आपकी अपनी ही परिकल्पना है जैसे कि देखो ना क्या होता है कि खेल आप लोग देखते हैं सुनते हैं समझते हैं है या नहीं उन खेलों में देखी हर खेल में हर मैच में एक ही खिलाड़ी मारता है क्या ऐसे अच्छा, तो होता नहीं ठीक किसी मैच में किसी को किसी ने मारा किसी मैच में किसी और ने मारा लेकिन नहीं किसी अधिकतर किसने मारा वो आपको पसंद आ जाता है और उसी को हमेशा राजा को कर गलत शून्य मार के भाग गया तब भी आप उसकी जो कार्य करते क्या मतलब है भाई तो आपकी अपनी कल्पना हुई ना भाई लेकिन जो निर्णय लेने वाला मैन ऑफ द मैच वो क्या करता है वो उसी को देगा क्या आपका सचिन बाबू को हमेशा मिलता है क्या नहीं मिलता है जो मारे उसको देंगे जरूरी है वही जिसमें वो मारे उसको दिया जाएगा लेकिन हर बार उसको थोड़ी देते हैं तो वो जो विशेषता आप फिर भी उसको पता नहीं उसके फील्ड पे उतरते सारे उछल कूदने लग जाते हैं लोग क्या बात है ये आपकी अपनी कल्पना हुई ना और आप निराश जब करते सौ गाली भी दे देते हो <laughs> तो ये सब कहा है उसमें है क्या कुछ नहीं आपकी कल्पना है और ये सब कुछ तमाशा में देख रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाओ शून्य मारते चाहे शतक मारे फर्क क्या पड़ेगा चाहे भारत हारे जो जीते है जो उदासी बाबा है उसको क्या फर्क पड़ने वाला है है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए कल्पनाएं जहाँ भी विशेषता हम देखते हैं वो भी अपनी ही कल्पना होती है वस्तु की अपनी कोई विशेषता अपने आप में नहीं होती इसलिए कहते हैं अन्य किसी हेतु से उत्पन्न विशेषता नहीं है ये तो स्वकृत कल्पना मात्र ही है आत्मा नहीं अपनी कल्पना कर लिया ये विशेष है ये अविशेष है अपने आप व्यवस्था कर लिया जिसकी जैसी रुचि बनती है वैसे कल्पना कर लेते चित्त काला ही अंत कत भाषकार स्वप्र चित्त परिकल्पित सरम इत आशंकित स्वप्न के समान चित्त परिकल्पित सब कुछ जो आपने कहा इस पर पूर्व पक्षी अपने आशंका को उत्थापन कर रहा है चित्त परिकल्पित मनोरथादि लक्षण ही चित्त परिच्छेद वैलक्षण्यम बाह्याम अन्योन्य परिच्छेद सा न युक्त आशंका पूर्व पक्षी ये जो सोच रहा है कि भाई चित्त से कल्पित और चित्त से ही चरण योग्य चित्त परिकल्पित है मनोरथादि लक्षण मनोरथादिभूता मनोराज्यादिभूता जो वस्तु है वह चित्त परिच्छेद चित्त मात्र से परिच्छिन्न हो रहा है कौन जो सप्रज्ञ पदार्थ लेकिन उससे वैलक्षण्य बाह्य उससे विलक्षणता बाह्य वस्तु में हम देख रहे हैं बाह्य वस्तुओं में उसके पदार्थ में उसके पैसे विलक्षण होता है क्या विलक्षण है कहते भाई ये जो बाह्य पदार्थ है वे तो अन्योन्य परिचिन भी है एक दूसरे से परिचिन भी हो रहे हैं क्योंकि स्वयं गतम बोल भी रहे लेकिन स्वप्न में ये नहीं होता जो कल देखा था स्वप्न वो ये है होता है कभी कई बार लोगों को रोता है हमने बार बार एक ही स्वप्न को देखा सामान्यता को लेकर कहे थे बार बार शाम दिखाए तो कह लेकिन उसे पूछो जो सांप उस दिन स्वप्न में देखा तो वही सांप देखा आज रंग लंबाई चौड़ाई सब वही थी और नहीं बता ही नहीं सकता क्योंकि उसको सांप देखते घबरा गया और तो उठ गया उसको पता ही नहीं कैसा सांप था वो बार बार सांप दिख रहा है लेकिन वही सांप दिख रहा है तो कोई गारंटी नहीं स्वयं सर्प व्यवहार नहीं कर सकता स्वप्न में वो कहीं जागृत में स्वयं घट व्यवहार कर रहा हूँ अरे जो घट कल देखा था वही घट को मैं आज देख रहा हूँ जिस घट से कल पानी लाया था उसी घर से आज पानी ला रहा हूँ तो होता भी नहीं सिद्ध कला मानना पड़ेगा ना इसको कि कल्पना काल तक ही मानू ये कल्पना काल तक की होता तो प्रतिविज्ञा हो नहीं सकती प्रतिविज्ञा के वजह से मानना पड़ेगा कि जो है प्रतिविज्ञा का विषय होने के कारण इनको द्वकाल पर्यंत रहने वाला मानना होगा अन्योन्य परिच्छेद्यत्वमिति युक्ता आशंका अतः स्वप्न के समान जागृत जगत मिथ्या नहीं है ऐसा पूर्व पक्ष ने जब आशंका करता है तो सिद्धांत कहता है ऐसी आशंका करना उचित नहीं है क्यों तुम्हारा एक बात तो जो तुम कह रहे हो उतने तो हम स्वीकार भी कर रहे हैं लेकिन हम ये कहते हैं जो कल्पना काल वाले हैं और जो द्विकाल है दोनों ही वास्तव में कल्पना ही चित्त काला ही अंतस्तु चित्त परिच्छेद जो भीतर होते हैं वह केवल चित्त के द्वारा परिच्छेद होते हैं अन्योन्य परिच्छेद नहीं होते चित्तम कल्पना तत्परिच्छेद ही तत्समकाली नहीं रहे चित्त काल मतलब चित्त से यहाँ कल्पना लेना यहाँ यावत काल पर्यंत कल्पना टिकी हुई है तावत काल पर्यंत वस्तु भी टिका रहे इसको कहते हैं चित्त परिच्छेद्या चित्त काला ऐसा कहा जाता है नान्य चित्त काल व्यतिरेकेणा परिच्छेद का काल ऐशांते चित्त काल की चित्त काल से भिन्न कोई अन्य काल परिच्छेद रूपेण न विद्यमान रहे नान्य चित्त काल व्यतिरेकेणा चित्त काल से भिन्न काल कोई दूसरा परिच्छेद का काल जिन वस्तुओं का नहीं है उन वस्तुओं को कहा जाता है काला अर्थात कल्पना काले ये उपलब्ध कल्पना काल है तब काल पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं उसे आगे पीछे होते नहीं अतः आगे पीछे को लेकर उनका प्रतिज्ञा नहीं होती और द्वे काल मैंने भेद काला अन्योन्य परिच्छेद्या अन्योन्य परिच्छेद्या अविद्या इत्यन्वय दिया ना अन्योन्य परिच्छेद का पर टिप्पण अन्योन्य परिच्छेद कल्पित ही यदा कल्पना तदा अस्ते न तो आसन दोनों मिथोच्छेद्यादि भाव कल्पित ही यदि कल्पित हो तो क्या होता यदा कल्पना तदा अस्ते जब कल्पना है तब तक रहेगा जैसे दो दोहन कर रहा है तो दो नहीं कर रहा है इन पौरवा पर संबंध नहीं होता न तो आसन दोहन तोरावच्छेद्यादि भाव आसनम और दोहनम दोनों परस्पर अवच्छेद अवच्छेद भाव नहीं बन पाता है न सहकल्पित तदात्म सहकल्पित हो जाएगा ऐसा भी कथन करना संभव न शक्य कल्पित तथा सती यथा कल्पना तथा उभयम न्यायभिप्राय तो मैं यही कहूंगा कि दोनों एक साथ कल्पना हो रही है तो दोनों एक साथ एक काल में ही कहना पड़ेगा तो काल का व्यवहार नहीं हो सकता जो निकल गया तो निकल गया ना उसको पकड़ नहीं सकते आप पकड़ सकते हैं कल्पना काल के वस्तु ऐसे हैं एक कल्पना हो रहा है और फिर दो आगे बढ़ने के बाद ही किसी कारणवश संस्कार स्मरण पे लावे तो दोबारा में वो कल्पना करो प्रयास करो नहीं हो पाता है ये नहीं इसके लिए मजबूत संस्कार जैसे आप भगवान की जो है ध्यान कर रहे हैं आवाचार मन दूसरे में चला गया फिर वापस भगवान के ध्यान में जागृत में आ जाते हो है ना क्योंकि आपके पास उस श्लोक वगैरह याद है स्वरूप ध्यान कर लेते हो स्मरण कर लेते हो संस्कार है क्योंकि कल्पना नहीं है बाह्य स्तर स्वीकार कर चुके हैं एक कल्पना की ओर कर लो वो कल्पना दो बार आई नहीं सकती एक बार आ गई सुबह आ गई दूसरे बार नहीं आई तो आती है क्या नहीं आ जो यथार्थ है जो जो कलावस्थाई है वो तो आ जाएंगे जो एक कालावस्था कल्पना मात्र कालावस्थाई होते हैं उनको दोबारा वैसे के वैसे कल्पना करना भी चाहूंगा वो नहीं हो सकता है ये आपको कह दिया जाए भाई देखो ये जमीन है सामने खाली पड़ी है बैठो यहाँ अरे मकान की कल्पना करो ठीक और आपके अंदर सामर्थ्य दिया जाए कि वो क्या कल्पना कर रहे हैं आप उसके मन को आप रीड कर ले और चित्र बना के चुपचाप रख लीजिए दूसरा दिन बोला उसको भाई तुम बैठो फिर आज फिर कल्पना करो इसे मकान बनाओ लेकिन याद रखना कल तुमने जैसे मकान की कल्पना किया था वैसे ही हम चाहते इस समय कल्पना करो तो जितना भी कोशिश करेगा कहीं ना कहीं कोना बढ़ा ही देगा वो तो रंग बदल देगा बड़ा चौड़ा फर्क कर देगा बोला ही कोई संशय नहीं अब कहीं तो हमने ऐसे भी देखे तमाशा बना रहे मकान बन रहा है वास्तव में आप आज उसने सोचा था ऐसे ऐसे बनाएंगे बना दिया अब दूसरे दिन आता है तोड़ दो कल करवाया आपने तो कल्पना किया था आपने तो कहा था यह बाथरूम बनेगा और अगर यहाँ नहीं बाथरूम बनेगा कमाल है अब बताओ बेकारावस्थाई में भी विचार कर दे रहे हो हमारे गुरु जी तो कई बार ऐसे जान की कर लेते और सात मंजिल के एक बहुत बड़ा मकान बना रहे थे कई बार उसके अंदर तोड़ फोड़ करवाए देखते थे हम लोग क्या बोलते हैं चलते हैं घूमते फिरते हैं क्या क्यों बनाया इसको इधर घटाओ महाराज कल आपने कहा था अरे हटाओ बस बता दिया काम तोड़ दो भाई एक दो बार हम लोग कहे भी शुरू में ये कहते ही नहीं थे तोड़ में तोड़ दिया फिर एक बार ऐसे भी हुआ तमाशा है किसने कहा था तोड़ने के लिए अरे भाई कमाल है अब क्या करें हंस गए हम लोग तोड़ भी रहा है तोड़ो बोले हम लोग तोड़ दिया अब वो क्या कहते हैं तो दूसरे नागर क्यों तोड़ा किसने कहा तोड़ने महाराज आपने कहा था मैंने कहा था अरे डबल एंडोर्समेंट तो हुई नहीं थी अब बताओ दोबारा मैंने कहा था क्या एक ही बार तो कर चला गया था दोबारा पूछना चाहिए था तोड़ने से पहले अनचित के नपट के परेशान करते करते करे जब सोचते थे हम लोग कब पहुंच जाएगा भैया नमस्कार करो कहा था कि चलती रही तमाशा तो हम लोग की सहिष्णुता को देखते रहे कि कहा तक कर रहे नुकसान किसका हो रहा है ना हमारा ना उनका ना किसी का नहीं कल्पना चल रही है कभी यहाँ बन रही वहां बन रहा है हो रहा है चल रहा है कई लोग अटकल लगाते कितनी बर्बादी हो रही थी फालतू तो पैसा आ रहे क्या ऐसे सोचते थे कई लोग कहते थे गुरु भाई को तो एक दिन सत्संग उन्होंने ऐसे झाड़ा अच्छी तरह से सब भूल गए कृपा से बोलना ही सब कहते हैं कि भाई देखो जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी कोई अकल थी मैं क्या बनूंगा क्या हिंदी मीडियम पढ़ू की अंग्रेजी मीडियम पढ़ू किसने तय किया तुम्हें तय किया था क्या दूसरे ने तय किया उसने तेरे को जैसे बनाना चाहो वैसे बना डाला है ना बाहर जब भले तुम चाहो ना चाहो पछताओ तेरी मर्जी लेकिन तुम्हारी सारा निर्माण ही तेरे अनुमति सहमति के बिना और तुम जानते ही नहीं थे हम क्या बनेंगे बन गए आप क्यों अकल लगा रहे हो तो कहते आप क्यों अक्कल लगा रहे हो जैसे हम बनाना चाहेंगे वैसे तुम बनो बात करते अब तुम हमारे आश्रम में दोबारा पैदा हो गए ना संन्यास लिया का मतलब क्या अगर जन्म है तुम्हारा एक तरफ अब तुम पैदा हो कहा मेरे घर में मैं तुम्हारा बाप हो गया ना अब मैं तुमको को सीधा खड़े हो जाओ चौटा खड़े हो जाओ तुमको वैसे करना पड़ेगा हम जैसे चाहेंगे वैसे हम तुम्हारा निर्माण करेंगे तुम्हारा अकल नहीं चलनी चाहिए अकल चला का मतलब तुम मेरा चला नहीं जाओ तुम चले ही नहीं बेटा बड़ा होकर के अपना अकल चला लगता है तो बाप क्या करता है फिर ठीक है बेटा तुम जाने तेरे काम है अलग हो जाते नहीं जिम्मेदारी छोड़ देता है बाप बेटे का तुम जाओ जो चाहो सो करो जो भी क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है फिर तुम जाना तुम्हारा काम जाने जैसे चाहो वैसे तुम करो नहीं तो हम जैसे निर्माण करेंगे चाहे हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे चाहे चाटा मारते तो मन नहीं मारते माता पिता क्या कर देंगे तो कभी चाटा भी मार दे प्यार भी कर दे ऐसा हम ये दीवार तोड़ भी देते फिर दोबारा बनवा भी लेंगे तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है हमारी मर्जी से कहने तो कल्पक को छोड़ो कल्पना करने और तुम उसमें क्यों सहभागी बनना है उस कल्पना में आप अंतर नहीं कर सकते ये कल्पनाकार की वस्तुओं का विशेषता है इसलिए कहते हैं यहाँ पर अव्यक्तावते कहते कैसे है वो कहते हैं कि अन्योन्य परिच्छेद टिप्पण कारण इसलिए इसको स्त्रुत समझाया कि ये जो दो है वो दोनों एक साथ यदि कल्पना है करें फिर दोनों एक तल अवच्छेद अन्योन्य अवच्छेद नहीं है वहां यथा आप गो दो आवाज आवते तावत गाम दोगी यावत गाम दोगी तावत आते ये जगह है समान कार्य दो लगातार चल रहे हैं तो लेकिन जब तक ये तब तक वो है और जब तक वो है तब तक यह भी है एक प्रकार जो ज्ञान होता है बेकार अवस्था है वस्तुओं की हो सकती है नहीं तो नहीं हो सकती तो स्मरण करके तो कहेगा ना नहीं तो पूर्व कल्पना निकल गया फिर नया कल्पना हो रहा हो तो पूर्व कल्पना इस कल्पना के साथ यावत तावत पर्यत रह रहा है नहीं कह सकते आप स्मृति कैसे होगा परस्पर संबंध कैसे बनेगा उनका तो इसलिए कहते हैं कि तावान अयम एतावान सावान अयम एतावने स इति परस्पर परिच्छेद परिच्छेद भेदाराम इस तरह से परस्पर परिच्छेद परिच्छेद का भाव बाह्य पदार्थों का और भेदों का होता है इसे ते द्वय काला वे दो काल पर्यंत रहने वाले हैं इतनी बात पूर्व पक्षी का अनुवाद कर दिया है ये हम भी मानते हैं लेकिन अंत काला बाह्याश्चित काला कल्पिता ये जवाब है चाहे अंतचित वाले कल्पित काल चित काल वाले अंदर में रहने वाले हो चाहे द्वकाल वाले बाह्य वस्तु क्यों न हो सारे वस्तु कल्पित ही है न बायो द्वय कालत्व विशेष कल्पित व्यतिरेकेण अन्य हेतु कहा और बाह्य में जो द्वय रूपा जो विशेष आप मान रहे हो वह कल तप से भिन्न किसी अन्य कारण से वह विशेषता नहीं आई हुई है वह विशेषता भी आत्मा की अपनी कल्पना है आप ही स्वप्न दृष्टान्त भवतेव इसलिए यहाँ भी स्वप्रदृष्टान घटेगा कि स्वप्न में भी आप क्या कर रहे हैं स्वप्न में स्वप्न देव देखा लोगों की तो स्वप्न में स्वप्न देखा आपने मान लो वहां पर एक जकाल वस्तु भी रह गया स्वप्न में और एक स्वप्नांतर स्वप्न तो क्या था चित्रकाला हो गया एक महासप्न उस महासप्न ने सारा बना लिया फिर वहां भी सो गए स्वप्न में सो गया वहां सो गए फिर वहां भी देखे स्वप्न को वो स्वप्न क्या हो जाएगा चित्रकाला हो जाएगा और उस स्वप्न से बाहर जो पहला स्वप्न का अंतर्वर्ती वस्तु वो क्या हो जाएंगे जकाला हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे लेकिन इसलिए स्वप्न के अंदर जब स्वप्न होता है या स्वप्न में भी अधिकार पदार्थों में देखो आप बाकी मनोराज्य करो बाकी कल्पना कल्पना कारवाल हो जाएंगे स्वप्नांतरवर्ती स्वप्न को भी छोड़ दोगे तो भी बन जाएगा स्वप्न चल रहा है बेकार वस्तु भाई यही है और वहां बैठे बैठे स्वप्न में मनोराज्य करने लग गए तो कल्पना कार्य वस्तु वाले भी है और आपके सामने अन्य वस्तु भी है बेकार वाले भी इस स्वप्न में भी इस प्रकार से कल्पना काल वाला चित्त काला वस्तु और जय काला वस्तु जैसा है वैसे जागृत में भी चित काला और जो काला वस्तु में अतः दोनों के दृष्टान्त आत्मांत में विषमता नहीं है ये सिद्धांति ने प्रस्थापित किया तो फिर भी अंतर है जी जो भीतर वाला है वह व्यक्त है जो बाहर वाला है वह व्यक्त है स्पष्ट कभी ये भी बात नहीं आपकी कल्पना है जो भीतर वाला जब था तब वो भी स्पष्ट ही था वहां आपने क्या पानी नहीं पिया गणेश व्यवहार नहीं हुआ वहां स्वप्नकार में स्वप्न के पदार्थों से आपकी प्यास बुझा नहीं गया था नहीं था क्या वहां तो जो व्यवहार है तो हो ही रहा है कोई गड़बड़ी नहीं ना जागृत भाव तो सब कुछ है इसलिए वो सूक्ष्म अव्यक्त है ये व्यक्त है ये भेद तुम्हारी कल्पना भी उचित नहीं अव्यक्त अंतस्त स्फुटा एव चही कल्पिता एवं सर्वे विशेष त्रिमयांतर